प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं वो कैसा है कहां है कैसे मिलता है किसने देखा है ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर इस दवाई कड़वी दवाई को खाएंगे खाएंगे मतलब सुनेंगे इस दवाई का प्रवेश होने का मार्ग है कान श्रवण इन कानों के द्वारा ये शरीर दवाई जो जाएगी हृदय में हृदय में फिर इसकी खलबली माचेगी इसके अंदर एक विशेष कसकसी होगी कभी मन हाँ कहेगा कभी ना कहेगा ऐसा नहीं हो सकता हमने कदे सुना को नहीं ये कोई बात हुई कबीर तो काल हुआ छह सौ वर्ष पूर्व हुए अगर ऐसा विचार हम करेंगे उस समय ये विचार करें कि भगवान कृष्ण कब हुए भगवान राम कब हुए एक त्रेता में एक द्वापर में उस तो पहले कौन था फिर यदि हम सोचें कबीर साहब तो कल हुए हैं 600 वर्ष पूर्व कलयुग में तो पहले राम और कृष्ण सतयुग में कहा थे फिर तो छे को नहीं अर्थात वो भी भगवान को ना वो भी हैं ये भी हैं वो भगवान तीन लोक के हैं और ये भगवान सतलोक के अनंत कोटि ब्रह्मंड के मालिक से कहते हैं कबीर साहब चारों युगों में आए सतयुग में सतसुकृत नाम था और भाई त्रेता में मुनिंदर नाम से द्वापर में करुणा में नाम से और कलयुग में कबीर नाम से ये चारों नाम तो इनके मुख्य चलेंगे अन्य अवतार भी होंगे इनके जैसे दूसरा अवतार कलयुग में गरीबदास जी आए वही कबीर वही परमात्मा सतपुरुष पूर्ण परमात्मा और भी पल पल में आते रहते हैं कभी प्रगट कहीं किसी रूप में आते हैं कभी किसी रूप में आते हैं वो अपना अपने हंसों को समझा बुझा कर चले जाते हैं लेकिन मुख्य चार नाम चारों युग में इनके प्रसिद्ध रहेंगे सतयुग में सत्सुकृत नाम से त्रेता में मुनिंदर नाम से द्वापर में करुणा में नाम से कलयुग में भगवान कबीर साहब के नाम से पूर्ण ब्रह्माए कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है अनंत कोटि ब्रह्मंड के भगवान है अब यह बात मैंने पहले दोपहर को बताई थी सुबह कि ये बात मन को कभी स्वीकार्य नहीं है कि कबीर भगवान थे किन को नहीं है जिन्होंने सुना सुना नहीं ये ज्ञान नादानी के कारण क्योंकि पहले हम प्रधानमंत्री राजा को भी कम मान्या करते नौका करते कि नारा डीसी लाग रहा है इसी प्रकार हमने डीसी की महत्व का घना ज्ञान था प्रधानमंत्री का कोई लेकिन प्रधानमंत्री का तो नौकर है वो डीसी और उसकी कार की खिड़की खोला गए लेकिन अपने स्थान पर वो पूर्ण शक्ति है इसी प्रकार ये तीन लोग के परमात्मा डीसी समझो और कबीर साहब प्रधानमंत्री समझ लो इतना डिफ्रेंशिएट है इनकी शक्ति में इतना अंतर है इनकी शक्ति में लेकिन ये भी मालिक है अपने स्थिति में अपने क्षेत्र में और ये मालिक से कुल धनी सारे क्षेत्र में अब मैंने बताया था कि शिवपुराण कहता है शिव भगवान है एक भगजी ने कहा कि मैं तो देखो आप कुछ भी कहो मैं तो शिव जी से ऊपर किससे नहीं मानू मानना ना मानना ये बात भिन्न होती है ना मानना वो आपकी सलाह आपकी मर्जी आपके विचार हैं कोई जबरदस्ती कोई थोपा थोड़ा जाता किसी पे लेकिन ये कहना कि ये अब कोई दस के नोट ने नोका का मतलब सौ सौ का मानो अब दस का नोट भाई सौ का तो को नहीं मान चाहे ना मान मानना आपकी मर्जी ना मानना आपकी मर्जी पर प्रमाण से दूंगा गुंजाइश नहीं रहा इस मन ने कि कबीर साहब को परमात्मा ना माने अब लाल ने लाल कौन नहीं माना जिसने ज्ञान है वो अवश्य माना जिनको ज्ञान नहीं वो कौन माने उसके व्यवहार में नहीं आया वो लाल दस के नोट न मान ले सौ के नोट न मान ले अब प्रमाण बताते हैं वो बताता है कि लिखा है शिवपुराण में कि शिव जी पूर्ण परमात्मा है ये बात तो बिल्कुल ठीक आपकी शिवपुराण में बिल्कुल लिखा है कि शिव भगवान पूर्ण परमात्मा है शिव महापुराण है ये आप देखिएगा शिव महापुराण है ये ये शिव महापुराण भाषा ग्यारह खंड <clears throat> सचित्र काशी पुस्तकालय मथुरा लेखक हैं विनोद कुमार पुरोहित शास्त्री एम श्री गिरधर जी सपस्टिक सटाकिस्ट काशी पुस्तकालय बम्बई मूल्य है एक सौ बीस रूपए ये शिव महाप्राण ओम नमः शिवाय इसके अंदर से मैं विवरण आपको सुनाता हूँ कि भगवान शिव ने सारी सृष्टि का जो है रचना की पहले भगवान शिव थे 121 पृष्ठ पे इसके 121 पृष्ठ पे लिखा है कि भगवान विष्णु की उत्पत्ति भगवान शिव का ये आपको सुनाता हूँ <clears throat> ब्रह्मा जी बोले नंद परम पुरुष है यह सत्यज्ञान और अंत स्वरूप था तथा परम <clears throat> परमानंद पूर्ण परमात्मा है पूर्ण पुरुष है जो ज्ञान में और शोभा युक्त है अमुक्त पर तत्व है वही सदाशिव की मूर्ति है इसी को पंडित आस्त्रीय अवर्तनीय और प्राचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं उसने अपने शरीर से स्वच्छंद शरीर वाली ना भी नाश ना होने वाली शक्ति प्रकट की कभी ना, ना नाश ना होने वाली शक्ति प्रकट की वह प्रधान प्रकृति व गुणवती माया है और वही विकास से रहित है बुद्धि तत्व जननी माता कहलाई वही शक्ति अंबिका है प्रकृति संपूर्ण लोकों की ईश्वरी है त्रिदेवों की माता है ये शिव पुराण पढ़ के सुना रहा हूं आपको छठा अध्याय ब्रह्मा जी द्वारा तत्वों का वर्णन शक्ति अंबिका है प्रकृति संपूर्ण लोकों की ईश्वरी त्रिदेवों की माता तीन देव परमा विष्णु महेश नित और मूल कारण कही कही गई जिसका आठ जिसकी आठ बुझाएं हैं और जो विचित्र मुख वाली सुप्रभा है सुप, सुभ्रा है सदाशिव ने उस शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की अब देखो सदाशिव ने उस शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की उसकी उत्तम उसकी उत्तम क्षेत्र उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं जो परमेश्वर को देने वाली परम मोक्ष को देने वाली और सरोपरी है उस क्षेत्र में परमानंद शिव पार्वती शक्ति सहित निवास करते हैं शक्ति पार्वती शक्ति सहित निवास करते हैं हे मुनि प्रलय काल में भी वह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं होता ये शिव प्राण सुना रहा हूँ और इसी से इसको अभिमुक्त कहते हैं धनुषधारी शिव ने पहले इसमें एक आनंद वन बनाया था उस आनंद वन में शिवा शिव के रमण करते रहने पर हे नारद जी उन्हें किसी दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा हुई और उन्होंने सोचा कि हम इसका भार किसी दूसरे पर देकर शांति से <clears throat> काशी में केवल सहन करें इस प्रकार निश्चय करके इसके अक्षणिक दसवें अंश में सुधार रूप आवश का व्यापार किया जिससे त्रिलोकी की एक सुंदर रूप पुरुष का आविर्भाव हुआ जो शांत और सतो गुण से युक्त एवं गंभीरता में सागर के समान है तब उस अजय पुरुष ने प्रगट होकर परमेश्वर शंभु को प्रणाम किया कहा कि स्वामी मेरा नाम कहकर मेरे कर्मों का भी कर्मों को भी कहिए यह सुनकर प्रभु शिव जी हंस कर बोले कि सर्वत्र व्यापक होने से जगत में तुम्हारा नाम विष्णु विष्णु नाम प्रसिद्ध होगा शिव जी ने कहते हैं भगवान विष्णु को उत्पन्न किया और भक्तों को सुख देने के लिए तुम्हारा और और भी बहुत से नाम होंगे परंतु तुम कार्य साधन के लिए दृढ़ता से तप करो ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने मार्ग से दो वेदों का अपने मार्ग से दो वेदों को दिया तब विष्णु ने शिव जी को नमस्कार कर नमस्कार का बड़ा तप किया और शिव जी अत्यंत ध्यान हो गए विष्णु जी ने दिव बारह हजार वर्ष तक तप किया किंतु तब से अब तक उन्होंने अपनी मनोरथ कल्याण मकरी शुभ का दर्शन नहीं पाया शंभु का शंभुवाणी शंभु का दर्शन नहीं पाया ये लंबी कथा है इसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिव महापुराण में लिखा है शिव जी से विष्णु उत्पन्न हुआ अब मैं आपको विष्णु पुराण सुनाऊंगा संक्षिप्त महाभारत में भी द्वितीय खंड से साहबार लिखा है भगवान विष्णु से शिव की उत्पत्ति राजा युधिष्ठ ने पूछा पिता में है कमल नयन भगवान विष्णु अविनाशी समस्त जीवों के उत्पत्ति और प्रलय के स्थान अजय और व्यापक हैं वे नारायण हर्षि केश गोविंद और केशव इन नामों से विख्यात हैं मैं उन केशरों का अस्तित्व सात्विक विवेचन सुनना चाहता हूँ भीषम जी बोले राजन मैंने एक प्रसंग जगदम्बनी भगवान परशुराम देव ऋषि नारद और <clears throat> कृष्ण दयान व्यास के मुख से सुना था सुना है महर्षि अस्थि देवल वाल्मीकि और मार्कंडे जी भी इसी अद्भुत रहस्य का वर्णन किया करते हैं भगवान विष्णु सबके ईश्वर और नियंत्रता है अब ये बात सुनकर आपका समझ में आओगी कि यूं जड़ा हुआ क्यों करे और करीब दास ने कबीर साहब ने ताली खोल दी कर ये सुचारू कर दिए <clears throat> वे पुरुष एवं विराट आदि अनेकों नामों से प्रसिद्ध हैं सर्वव्यापक हैं लोकों में देता पुरुष इन सागर सागध्वा भगवान के जिन चित्रों को जानते हैं चरित्रों को जानते हैं तथा गुणों पुराणों वेता जिनका निरूपण करते हैं वह सब मैं सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ हे पुरुषोत्तम संपूर्ण भूतों के आत्मा हैं वे पुरुषोत्तम संपूर्ण भूतों के आत्मा हैं उन्हीं ने अपने संकल्प द्वारा आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन पांचों भूतों की रचना की है उन सर्वभूतेश्वर भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रचना करके जल में शयन किया अपने संपूर्ण तेज से संपन्न होकर उन्होंने उन्हीं से समस्त भूतों को अगर भगवान संकर्षण का उत्पन्न किया शंकर जी का पैदा किया <clears throat> भगवान शंकर को उत्पन्न किया वे भगवान शंकर ही समस्त भूतों के आधार हैं तथा भूत भविष्य सभी प्राणियों को आधार करते हैं इसके बाद उनकी नाभि से सूर्य के समान तेजो में कमल प्रकट हुआ उससे संपूर्ण भूतों के पितामह भगवान ब्रह्मा को भी प्रकट हुआ अर्थात विष्णु से भगवान ब्रह्मा और शिव दोनों की उत्पत्ति ये महाभारत के संक्षिप्त महाभारत के द्वितीय खंड से साबार जी की उत्पत्ति श्री भागवत सुधा सागर के तृतीय सकंद से के आठवें अध्याय से साबार सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था उसमें एकमात्र श्री नारायण देव से सैया पर पौधे हुए थे वे अपने ज्ञान शक्ति को अक्षुण करके योग निद्रा में आश्रय ले रहे थे अपने नेत्र मूंदे हुए थे सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्मानंद में मगन थे उनमें किसी की क्रिया का उन्वेष नहीं था जिस प्रकार अग्नि अपनी दाह क्रिया शक्ति को छिपाए हुए काष्ट में व्यापक रहता है उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों को सूक्ष्म शरीरों को के सूक्ष्म शरीरों को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत इस जल में शयन किया उन्हें सृष्टि काल आने पर उन्हें जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा इस प्रकार अपनी खरो भूता चिचकती शक्ति के साथ एक सहसर चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उन्होंने उनके द्वारा नियुक्त उनकी कार्य शक्ति ने उन्हें जीवों को कर्मों की उत्पत्ति के लिए प्रेरित किया तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे जिसमें भगवान की दृष्टि अपने निही अपने लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्वों पर पड़ी तब वह कालास्त्रित रजोगुण से सुक्षिप्त होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर आ निकला कर्म शक्ति को जागृत करने वाली काल के द्वारा देखो काल के द्वारा काल के द्वारा ये फिर भी बार बार आ रहा है ये काल बताऊंगे कौन था ये काल ने सारा काम बिगाड़ रखा है काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ सूक्ष्म तत्व कमल कोष के रूप में सहसा सहसा ऊपर उठा उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को <clears throat> दीप्तिमान कर दिया संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोक में कमल सर्वलोक में कमल में वे विष्णु भगवान भी ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए तब उसमें से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों के जानने वाले साक्षात देव मूर्ति ब्रह्मा जी प्रगट हुए जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया तो वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों और गर्दन घुमाकर देखने लगे इससे उनकी चारों दिशाओं में चार मुख हो गए चार मुख हैं भगवान ब्रह्मा इसमें प्रलय कालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंगों तरंग मालाओं के कारण उस जल राशि के ऊपर उठे हुए कम, कमल पर विराजमान आदि देव ब्रह्मा जी को अपना तथा लोक स्वरूप कमल का कुछ भी रहस्य न जान पड़ा अब ये सिद्ध हो गया कि सुधा सागर में आठवें अध्याय से सहबार प्रश्न नंबर 112 पर ये लिखा है कि ब्रह्मा की उत्पत्ति शिव जी विष्णु जी थे और उधर से विष्णु शिव जी की उत्पत्ति विष्णु से और उसमें लिख रखा है कि विष्णु की उत्पत्ति शिव जी से शिव प्राण में और यहां लिखा है ब्रह्म पुराण के अंदर कि भगवान ब्रह्मा से और शिव और विष्णु की उत्पत्ति प्रमाण प्रणाम करके मैं वेद के कुल माननीय पुराण का वर्णन करूंगा पूर्व लोक में दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों के पूछने पर कमल योनि ब्रह्मा ने भगवान ब्रह्मा ने जी ने जो सुनाई थी वह पाप नाशनी कथा में इस समय कहूंगा फिर यह कथा बहुत ही विचित्र और अनेक अर्थों वाली होगी इसमें श्रुतियों के अर्थ अर्थ का विस्तार होगा जो इस कथा को सदा अपने हृदय में धारण करेगा वह निरंतर सुनेगा वह अपनी वंश परंपरा को कायम रखते हुए स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होगा आखिर में स्वर्ग लोक तक पहुंच है इन सभी शास्त्रों की कि कितनी अच्छी साधना करेंगे तो वो स्वर्गलोक में पहुंच जाएंगे क्या कि तदंतर स्वयं भगवान नारायण ने नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले जल की दृष्टि सृष्टि की फिर जल में अपनी शक्ति का आधान किया जल का दूसरा नाम नार है क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान नारायण नर से हुई है वह जल पूर्व काल में भगवान का अयन निवास स्थान हुआ इसलिए नारायण कहलाते हैं भगवान ने जो जल में अपनी शक्ति का आधान किया उससे एक बहुत विशाल सर्वगुण गुणमय अंड प्रकट हुआ जिसमें स्वयंभू ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए ये कहते हैं भगवान ने ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और सर्व गुणों के समान कांतिमान भगवान ब्रह्मा ने एक वर्ष तक उस अंड में निवास करके उसके दो टुकड़े कर दिए फिर उस टुकड़ों से धूलोक और दूसरे भूलोक इन दोनों की बीच में आकाश रखा जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को स्थापित किया फिर दसों दिशाएं निश्चित की ऐसे ऐसे तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने रोष से रुद्र को प्रकट किया ब्रह्मा ने शिव जी पर बनाया अपने छोटे गुस्से थे और फिर पूर्वजों के पूर्वज सनातन कुमार जी को उत्पन्न किया इन्हीं सात महर्षियों के समस्त राजा ग्यारह रुद्रों का प्रादुर्भाव हुआ उस सात महर्षियों के साथ बड़े बड़े दीव वंश और देवता भी इन्हीं के अंतर्गत हैं उक्त सातों वंशों के लोग कर्मनिष्ठ एवं संतानवान हैं उन वंशों के बड़े बड़े ऋषियों ने सुशोभित किया इसके बाद ब्रह्मा जी विद्युत वज्र मेघ रोहित इंद्रधनुष पक्षी मेघों आदि की सृष्टि की फिर योगियों की सिद्धि के लिए उन्होंने ऋग्वेद यजुर्वेद श्यामवेद प्रकट किए तदंतर साध्य देवताओं की उत्पत्ति बताई जाती है छोटे बड़े सभी भूत भगवान ब्रह्मा के अंगों से उत्पन्न हुए इस प्रकार प्रजा की सृष्टि करते रहने पर भी जब प्रजा नहीं हुई तब प्रजापिता पति अपने शरीर से दो भाग करके आधे से पुरुष आधे से स्त्री हो गए पुरुष का नाम मनु हुआ उनके नाम मनवंतर काल बना गया माना गया स्त्री अयोनिजता सतरूपा थी जो मनु की पत्नी रूप में प्राप्त हुई इसके दस हजार वर्ष पर्यंत घुसकर तपस्या करके तेजस्वी पुरुष को पति रूप में प्राप्त किया वे सत्य पुरुष स्वयंभू भुक्त वो पुरुष स्व स्वयंभू भव मनु कह, कहे गए वे वैराज पुरुष भी इन्हीं का नाम है इनका मनवंतर काल इकहत्तर चतुर्युगी का बताया जाता है शत्रुपा ने वैराज पुरुष के अंश से वीर प्रियवर्त उत्पान पात नामक पुत्र के इसमें लिखा है कि भगवान विष्णु से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा ने फिर आगे शिव बनाया और फिर यह सृष्टि चाली अब इन उलझे हुए अब आपने संक्षिप्त महाभारत में सुना है कि वो बताते हैं कि वो महाशक्ति अष्ट आठ भुजाओं वाली सभी देवताओं के तीनों देवताओं की माता है अब हम आपको देवी भागवत महापुराण सुनाते हैं देवी भागवत महापुराण ये देवी भागवत महापुराण आप देखिएगा बुक सेलर प्रकाशन हरिद्वार से प्रकाशित है इसमें ये देखिएगा देवी भागवत महापुराण व्यास रचित ये सारी जितनी भी पुराण है वेद व्यास जी महर्षि वेद व्यास द्वारा ही लिखी गई है गीता जी भी इन्होंने लिखी है बाद में ये पुराण भी सारे भी रिरचित हैं भगवान व्यास द्वारा लिखा है प्रश्न नंबर 89 से 98 तक नवासी से अठानवे तक आपको अगर ये देवी भागवत जो है इस तीनों प्राणों को एक सुचारू करती है ये देवी भागवत जो है ये तीनों प्राणों को शिव प्राण ब्रह्मा प्राण विष्णु प्राण को कुछ हद तक ठीक करे से बिल्कुल इनको सुचारू करती है इसके बाद गरीबदास जी महाराज कबीर साहब की जो ग्रंथ साहब है ये इनको और पति पक्का कर देते हैं ये जो की क्यों बताते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति जन्म जनमेजय जन्मेजय कौन था ये परीक्षित राजा परीक्षित का लड़का था राजा परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र था और राजा परीक्षित को सर्प ने डस लिया था उसके बाद उसके पिता उसके पुत्र जन्मजय ने राजगद्दी प्राप्त की थी जन्मजय ने पूछा भगवान आपने अम्बा यज्ञ द्वारा देवी की आराधना करने की आज्ञा दी है अतः वे कौन है अम्बा अम्बा यज्ञ यानी देवी की यज्ञ वो कौन है कैसे और कब प्रगट हुई ब्रह्मन साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कही है व्यास्ती से पूछ रहे हैं राजा जन्मदेह और साथ में ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी बताइए क्योंकि भूदेव ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ कहा गया था है तथा तो वह जैसा है ये सभी बातें आप जानते हैं मैंने सुना है ये कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये तीन सगुण देवता हैं व्यास जी कहते हैं राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी विशाल है अभी तुमने जो पूछा कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश सनकादि का मतलब है सनक सनंदन सनातन संत कुमार ये चार पुत्र सनकादि कहने का तात्पर्य इन चारों को ये एक ही प्रतीक होता है एक अक्षर इस प्रकार ये ब्रह्मादि का मतलब है ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई सो तो वह महान कठिन विषय है एक समय की बात है गंगा के तट पर सर्वाज्ञान संपन्न मुनीश्वर नारद जी विराजमान थे वेद के सर्व उत्कृष्ट ज्ञाता उन मुनि का मुझसे दर्शन हुआ कुशल प्रसन्न हो जाने पर के पश्चात मैंने नारद जी से पूछा मैंने कहा मुने आप बुद्धिमान हैं और मुझे बताने की कृपा कीजिए इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधान प्रधानकर्ता कौन है जन्मजय ने पूछा व्यास जी से व्यास जी कहते मैंने पूछा नारद जी से अब नारद जी बताते हैं कितने ही स्त्री आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं वे आदि माया ये व्यास जी पूछ रहे हैं नारद जी से महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर महामाया एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है ब्रह्म के साथ उनका अच्छेद संबंध है ये पॉइंट पकड़ना आप इस महाभारत इसने कितना साफ किया है और गरीबदास ने तीसरा ता दिया गीतो इसने एक बार ताया और गरीबदास कबीर साहब ने दो तीन बार ता दिया कति ने रोल कर दिया अभी इसमें कहा है कि वो करने वाली सर्व काम करने वाली प्रकृति भी शक्ति को ही कहते हैं वो आदि माया है अष्टंगी है उसकी निराकार शक्ति प्रकृति कहलाती है आकार रूप उसका अपना आठ हो जाता है ब्रह्म के साथ उसका अभेद संबंध है अभेद ब्रह्म के साथ उसका अभेद संबंध है ब्रह्म कौन है ये ज्योत निरंजन है गरीबदास जी महाराज जिसको काल कहे अब इसमें आया था ना शिव प्राण में विष्णु प्राण में कि उस काल ने विष्णु जी को प्रेरित किया और फिर उसने सृष्टि रची रजोगण में आकर रजोगुण में सृष्टि देखी जाती है तो वो काल कौन है अब ये काल बताया जा रहा ये ब्रह्म जिसे ब्रह्म कहते हैं ये महाशक्ति आदि माया है ये आदि माया महाशक्ति एवं परम परम पुरुष के साथ रहकर संपादन करने वाली प्रकृति है परम पुरुष यहाँ इक्कीस ब्रह्म में श्रेष्ठ परम पुरुष पूर्ण परमात्मा यहाँ के पूर्ण परमात्मा जैसे राज्य में मुख्यमंत्री पूर्ण होते हैं और जिले में डीसी पूर्ण होता है ये यहाँ की <coughs> परम पुरुष है यानी ज्योत निरंजन भगवान जिसको काल कहते हैं और ये महाशक्ति इसी को प्रकृति कहते हैं ये समझना और इसी से आपको गीता जी समझ में आओगी गीता जी भी सुनाऊंगा आपको धर्म तो जब भागेगा जीविका जी शास्त्र हमारे सामने आएंगे और फिर फिर गरीबदास महाराज के शास्त्र को पढ़ना पता लग जाए प्रकृति है और ब्रह्म के साथ इसका अभेद संबंध है ब्रह्म माने निरंजन गेला काल के साथ में उस परम पुरुष के साथ में इसका अभेद संबंध है वे अखिल विश्व की अधीश्वरी हैं सारे ब्रह्मांड की ये अधीश्वरी यानी महाशक्ति हैं सगुण निर्गुण एवं कल्याण में इनका विग्रह है ये सगुण भी हैं और ये निर्गुण भी है और कल्याण में कल्याणकारी हैं क्योंकि किस ब्रह्मांड की पूरी परमात्मा पूरे लाभ दे सकती हैं जितना ये दे सकती हैं व्यास जी कहते हैं तुमने उन्हीं से वेद प्रकट हुए व्यास जी कहते हैं तुमने जो बातें पूछी हैं वे ही मैंने मुनीश्वर नारद जी से पूछी थी जन्मे जी पूछते हैं व्यास जीते व्यास जी कहते हैं कि ये बात मैंने नारद जी से पूछी थी जो ब्रह्मा के पुत्र हैं अब नारद जी क्या कहते हैं कि ये बातें मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछी थी कि सृष्टि का रचनिया कौन से अब देख कहां तक प्रमाण हो गया अर्थात ये प्रमाणित बात है कि ऐसे ऐसे रची थी जब इतने प्रमाणित चार संतों ने महर्षियों ने एक प्रमाणित बात को एक ही मानकर स्वीकार किया है नारद जी कहते हैं व्यासी प्राचीन समय की बात है यही संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हो गया था तब मैंने अपने पिता अमिल तेजस्वी वर्मा जी के स्थान पर मैं अपने पिता ब्रह्मा जी के स्थान पर गया यानी ब्रह्मा लोक में इसी विषय पर मैंने पूछा मेरे प्रश्न पर पिता लोक पिता में है ब्रह्मा जी मुझसे कहने लगे बेटा मैं इस प्रश्न का के उत्तर दू यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है महाभाग तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो <clears throat> लेकिन फिर बताते भी हैं भाई पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था इस ब्रह्मंड में यहाँ पर पानी पानी था सथावर जंगम जितने प्राणी हैं उनमें कोई भी नहीं था तब कमल के कमल से मेरी उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उस समय बेटा मैं कमल के ऊपर उत्पन्न हुआ मेरी उत्पत्ति हुई मैं कमल की कणिका पर बैठकर विचार करने लगा इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया यो विचार करके मैं जल में उतरा एक हजार वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा खोज करता रहा इस पर भी मुझे जल का कहीं और छोर नहीं मिला इतने में आकाशवाणी हुई तप करो तप करो तब मैंने तपस्या आरंभ की कमल पर बैठे ही हजार वर्ष तक मैं तप करता रहा फिर उसी समय आकाशवाणी हुई सृष्टि करो सोचा किसकी सृष्टि करो अथवा मेरा क्या कर्तव्य है ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मेरे को ऐसे आकाशवाणी हुई इसका मतलब शक्ति और है कोई तो ऊपर की जब आकाशवाणी कोई और कर रहा है इसी समय मधु कैटब नाम के दो भयंकर दानव सामने आए मधु कैटब राक्षस मेरे मेरे को दिखाई दिए मैं उनसे भयभीत होकर डर कर कमल के डंठल पकड़कर जल में उतरा और वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष ने दर्शन के दर्शन मिले जो शेष नाग की सैया पर सोए पड़े थे शंख चक्र गदा और पदम इन चारों आयुधों से अनुपम शोभा पा रहे थे वो कौन थे भगवान विष्णु थे ऐसे शेष शाही भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ नारद जी नाग की सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित तो उठा इतने में भगवती योग निद्रा याद आ गई या माई आठ बजा वाली याद याद आ गई मैंने उनका सवतन किया उनको याद किया वे कल्याणमय भक्ति श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर विष्णु के शरीर से बाहर निकली अब ये जानकरण की बात है यहाँ पर गरीबदास जी के ग्रंथ साहब को खोलने की ये चाबी आपको बता रहा हूँ कि ये चाबी लगेंगी इसमें सारी फिर खोलेगा <clears throat> विष्णु जी के शरीर में भगवती प्रवेश थी या आठ भुजा वाली माई जैसे एक शरीर में दूसरी प्रेत आत्मा प्रवेश कर जाती है और उसको मूर्छित कर देती है अपनी बोली बोलती है इसी प्रकार ये निरंजन और माया इन ब्रह्मा और विष्णु महेश में बढ़कर प्रवेश करके अपने सारे काम करती हैं जो इन्होंने करवाना है वो करवाई देती हैं तो उसमें ब्रह्मा विष्णु जी की आत्मा तो सूती पड़ी थी और ये उसमें प्रवेश थी इसलिए वो निद्रा का रूप बना लिया था अब देखा कि कई हमारे पास हजारों केस आए हैं इस, दौरान पांच साल के समय में कि ऐसी प्रेत आत्मा न बिराके के, बोले बोल रहे हैं और नौ बेहोश होकर पड़ी जाए और जब वो उसमें से भाग जाती हैं तो पहले आगे पूर्व आत्मा जीव नो का अपनी वही भाषा बोला उसका याद भी कोई ना क्या क्या था मेरे साथ तो ऐसे ही ये प्रेत ये विष्णु न ये माई और निरंजन जब चाहे किसी भी में प्रविष्ट कर जाती है और उनको मालूम भी ना होता ये कौन था क्या हो गया अब ये बात बताई कि उसमें से जब मैंने भगवती को याद किया तो उस विष्णु के शरीर में था विग्रह में था वह आठ बजा की माता अनु सामने प्रगट होगी निकल गए भगवती को याद किया कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह यानी शरीर से निकलकर अचिंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान होगी तब तुरंत ही श्री हरि उठे फिर वो विष्णु जी से धीम आया उसमें से ऊपर न उठा अपना जा गया उन्होंने मधु और कैटब के साथ पांच हजार वर्ष तक बड़ी गमसान लड़ाई की भगवान विष्णु ने मधु और कैटब नाम के दो राक्षस जो उत्पन्न हो रहे थे उन गिला लड़ाई करी और पांच हजार वर्ष तक लड़ते रहे तब वे दैत्य मरे पहले देवी के कटाक से मधुर कैटब मोहित हो गए इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेटाकर उनके प्राण सहित प्राण रहित कर दिया अब ये बात और विचार करना होगा भगवान विष्णु से नहीं मरे पांच हजार वर्ष तक लड़ता रहा दो राक्षसा गेलिया मधुर कैटब के लेकिन मरे कब जब माता ने एक सुंदर लड़की का रूप बनाकर और उन राक्षसों के आगे आएगी और वो हो गए उस माई के उस सुंदर रूप पर आसक्त और उस समय कहते हैं उस विष्णु ने उनको गोड्डा में घेर कर फिर मारा उनका ध्यान बदल गया और उस शक्ति ने उनके साथ ऐसा करके फिर मरवाया ना विष्णु के तो छक्के छुड़ा रखे थे अब ये बात सोचने की है कि सर्वशक्ति मान नाम और कमियां इतनी पावे कि वो उस पर ना मरा उस पर नहीं मरे दूसरे ना कमारे ये भी नहीं कि ये शक्ति कुछ भी ना थी पर तीन लोग के भगवान थे जितनी इनकी शक्ति है शास्त्रों में वर्णित है कबीर साहब ने सत्य माना है पर यह भी बताया कि आपको पूर्ण सुख नहीं दे सकते इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेकर उन्हें प्राण रहित कर दिया अब वहां मैं और भगवान विष्णु दो थे और वहीं पर रुद्र भी प्रकट हो गए वहां पर कहते हैं शिव जी भी आ गए अब ये आकितंग कैसे टपके ये सारा खो लगा कबीर साहब फिर क्यों कराए कैसे हुए रुद्र भी यानी शिवजी भी वहां पर प्रकट हो गए हम तीनों को भगवती अध्या शक्ति के दर्शन हुए तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी देवी ने कहा ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तुम भली बाती सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ सृष्टि स्थिति संहार ये तुम्हारे कार्य हैं आदेश देती है माता कि ब्रह्मा विष्णु महेश अब अपने काम पर लगो ब्रह्मा का काम सृष्टि रचना जीव बनाना और विष्णु जी का पालन पोषण स्थिति और सहार भगवान शिव का काम है पर न्योना बेरा क्या की खातर है एक बनावे एक पाड़े एक मारे पर किस लिए न्यो बेरा नहीं किस लिए ये बाल का खेल क्यों बना रखा है इन्होंने एक तो बना दे इस गंदे शरीर में गधे बनावे कुत्ते बनावे कुतिया बनावे गधी बनावे है और भाई सांप और बिच्छू शेर वगैरह जंगली जानवर बनावे और एक है और एक मारे भाई पशुओं जैसा काम गल क्यों कर रखा क्या इसका कारण क्या है ये कारण कबीर साहब ने बताया कि ये कारण भाई इनके पिता है निरंजन जी ज्योत निरंजन जिसको ब्रह्म कहते हैं जिसको सनातन परमात्मा कहते हैं और उसने शराप लगा हुआ उसको एक लाख जीव रोज खाने का और भाई ये इसलिए ये सारा कार्य इनको दे रखा एक बनावे एक पाड़े मारे एक लाख जीव रोज उसके पास बेच दिए जाते अब यहां पता चलेगा वो कौन है धर्मा जी कहते हैं हम लोगों ने उनसे कहा माता हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सजन सर्जन आदि कार्य में सफल हों विस्तृत भूमि का अभाव है जल जल सारा दिखा सभी स्थान मगन है हमारी बात सुनकर वह कल्याणमयी स्वरूपणी भगवती का मुख मंडल मुस्कान से भर गया आसन लागी माता हंसने लगी इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतरा और तब उन देवी ने हमें आज्ञा की देवताओं तुम निर्भीक होकर निर्भय होकर डरियो मतना और इस विमान में बैठ जाओ या तुमने सारा खेल दिखाती हूं इच्छा पूर्वक निर्भक होकर विमान में प्रवेश कर जाओ आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूं उस रचन रतन जड़ित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए ब्रह्मा जी कहते हैं मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वो विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक वृक्ष सुंदर थे आगे एक अत्यंत सुंदर नगर दिखाई पड़ा अक्षण भर के बाद ही वह एक दूसरे सुंदर प्रदेश में जा पहुंचा विमान में बैठे बैठे बता रहे हैं वहां हमने देखा अनुपम नंदनवन था सैकड़ों अप्सराएं यक्ष गंधर्व विद्याधर उस पारिजात पारिजात के उपवन में गाते एवं बिहार कर रहे थे देखा तो वहीं पर महाभाग इंद्र भी बैठे थे उनके समीप उनकी प्राण प्रिय सची विद्यमान थी उसी स्वर्ग के दृश्य को देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए इतने में हमारा विमान तेजी से आगे चल पड़ा वह दीवधाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा दीवधाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा वहां दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे उन्हें देखकर भगवान शंकर विष्णु ने मुझसे पूछा कि चतुरानंद ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है अब ये बात और देखना दिव्यधाम परमधाम ये ब्रह्मलोक है इनका जो दीवधाम और परमलोक जैसे राजधानी ये इनकी ब्रह्मलोक है और ब्रह्मलोक है विष्णु का लोक शिव क्या नाम है निरंजन का लोक है काल का लोक है वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे आ, हाँ। तो मैंने उत्तर दिया कि मुझे कुछ नहीं पता सृष्टि के अधिष्ठता ये कौन है इतने में मन के समान तीव्र गति से विमान तुरंत वहां से चलकर कैलाश के में शिखर पर जा पहुंचा वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन में त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर और मिले एक शंकर जी तो विमान में बैठा और उसने एक और पाया फिर आगे वो कैलाश पर्वत पे तीन नेत्रों वाला वे नंदी वृक्ष पर वृषभ यानी बैल पर बैठे थे नारद उस समय भगवान शंकर तथा उनके अन्य गणों को देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा ना रही एक शिवजी विमान में बैठा है दूसरे शिवजी को और देख रहे हैं अक्षर भर के बाद वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज साथ से उड़ा और बैकुंठ लोक में पहुंच गया वहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था बेटा नारद वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करने में भी असंभव है ये दूसरे ती, ती, दूसरे विष्णु जी के पास फिर पहुंच गए एक विष्णु जी विमान में है और एक के लोक में पहुंच गए वही विमान से ही तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु में ये सोचना है आपने ये बताएंगे कबीर साहब और गरीबदास जी का शास्त्र कि ये कौन तो वो दूसरे ब्रह्मा थे और कौन ये ब्रह्मा थे उस उत्तम परी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोता खाने लगा वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे इतने में ही पवन के से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़, उड़ गया इससे भी आगे चले ये तीन लोग तो देख लिए ब्रह्मा विष्णु शिव के जो जिसको महाब्रह्मा महाशिव महाविष्णु कहते हैं आगे चले आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला वहीं पर एक मनोहर द्वीप था मंदार और पारी जात आदि वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे मनोहर वृक्ष उस द्वीप के कोने कोने से सुशोभित हो रहे थे उसी द्वीप में एक मंगल में मनोहर पलंग बिछा हुआ था बाकी बाती के रत्नों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी उसमें पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी सुंदर लड़की बैठी थी औरत बैठी थी उनके गले में लाल रंग की माला थी लाल वस्त्रों से श्री विग्रह सुशोभित था लाल वस्त्र पैर रखे उस लड़की ने उनके गले में लाल रंग की माला थी लाल वस्त्रों श्री विग्रह सुशोभित था वे ऐसी प्रभावपूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हूं वैसी सुंदर स्त्री को मैंने कभी नहीं देखा था पास में अनेकों साधक बैठकर हरियम इस मंत्र का जप कर रहे थे भुवनेश्वरी महेश्वरी आदि नामों से हृदय यंगम करने वाले देव कन्याचारों और बैठी थी उन्हें देखकर हम भी महान आश्चर्य में पड़ गए आपस में कहने लगे यह सुंदरी कौन है और इसका क्या नाम है हम इसके विषय में बिल्कुल नहीं अनभिज्ञ हैं हम नहीं जानते नारद तब भगवान विष्णु ने उन चारों सिंहिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि ये भगवती जगदम्बा है जगदम्बिका है तब उन्होंने कहा कि हे भगवती हम सभी की याद कारण है आदि कारण है ये वे दिवंगना हैं जिसके प्रलय वराण में भी मुझे दर्शन हुए थे उस समय में बालक रूप में था अब देखो विष्णु जी कहते हैं इस माई के मन पहले भी दर्शन हुए थे जब मैं छोटा सा था अब कबीर साहब खोल लेंगे सारी ताली ने ये जगह जगह पर रहस्य जो उत्पन्न हो रहे हैं कि मैं छोटा सा था जब एक बार फिर देखा था इस माता को अब कबीर साहब बताओगे कि यह माता कौन थी और कैसे ये पैदा हुए थे नारद जी तब भगवान विष्णु ने <clears throat> हाँ जिस पर्यावरण में भी मुझे दर्शन हुए थे उस समय मैं बालक रूप में था विष्णु जी कैसे कि इस माता के तो मैंने पहले भी देखी थी एक बार जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था उसमें मैं छोटा सा था अब यहां पर ऐसे खेल खेला जा रहा है कोई भी सीधा मार्ग नहीं बताया इन बच्चा ने भी इन्होंने बेरा माँ कौन से और पिता कौन है तुम्हारा ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जिनको हम आदर से देव रूप में परमात्मा सर्वशक्तिमान रूप में पूज रहे हैं ये देवी भागवत की कथा देवी भागवत में से आपको कथा सुना रहा हूं उस पुराण में थे अभी तो कबीर साहब का शास्त्र मैंने शुरू भी नहीं किया है अब इतने शास्त्रों का समावेश आपके हृदय में बैठाऊं कि मैं कहा से बोल रहा हूं <clears throat> अगर मैं सीधा कह दूं उस कथा को तब मानो कोई ना नो कहीं आपने कदे सुनिए कोई ना पहले तो ये सुना जो शास्त्र आपने मान्य है कि ये तो हमारे आदरणीय शास्त्र हैं अठारह पुराण उन अठारह पुराणों में से ये चौथी कथा पुराण सुना रहा हूं जगदम ये देवी भागवत <clears throat> महाभागवत की कथा भगवती जगदम्बिकता की स्तुति ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार बताकर भगवान विष्णु ने फिर कहा कि हम लोग बारंबार प्रणाम करते हुए उन भगवती के पास चले हम सभी अर्थात मैं विष्णु और शंकर ब्रह्मा जी कह रहे मैं विष्णु और शिव शंकर तीनों जने द्वार पर जाकर विमान से नीचे उतरे जब देवी ने हम सभी को द्वार पर देखा तब वे मुस्कुराकर हंसन लगी परंतु हम तीनों को स्त्री बना दिया गर्मा जी कहते हैं हम तीनों लड़की बना दिए उस माई ने हम उत्तम आभूषणों से अलंकृत रूप वाली युवती बन गए सुंदर गहने और सुंदर वस्त्र सुंदर रूप हो गया लड़कियां के साथ अब हमारे आश्चर्य का पार नहीं रहा फिर हम उस देवी के सनिकट चले गए फिर उस माता के हम नजदीक पहुंचे हम स्त्री रूप में थे हम भागवती को प्रणाम करके सामने बैठ गए वहां देवी की हजारों सहेलियां विराजमान थी नारद मैंने जो यहाँ अद्भुत दृश्य देखा वह बतलाता हूँ तुम ध्यान देकर सुनो भगवती भुवनेश्वरी के चरण कमल के समान कोमल थे उनके पैर कमल के समान कोमल थे सुंदर थे नख स्वच्छ दर्पण का काम कर रहे थे नाखून ऐसे चमकते जैसे शीशा देख ले मुंह देखने वाला भगवती के नख में से मुझे सथावर जंगम सारा ब्रह्मांड ब्रह्मा विष्णु रुद्र वायु ये सब दिखाई दे दिए और वही मेरा जन्म स्थान कमल भी दिखा उसी पर मैं चार मुख वाला ब्रह्मा बैठा था शेष साई भगवान विष्णु भी दिखाई दिए उसके नाखून में जैसे दर्पण में दिखा करें यानी ये सारी चीज स्थितियां ऑलरेडी और ये दिखाई देगी उस नाखून के माँ का वो ब्रह्मांड दिखाई दिए मधु कैटअप भी दृष्टि गोचर हुए विष्णु और शंकर का मन भी आश्चर्य से भर गया तब मैं विष्णु और उदर ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों ने मान लिया ये देवी अखिल जगत की जननी है ये सारे सब जीवों की बनाने वाली माता है हम उन देवी की झांकी रखते झांकी देखते रहे झांकी माने दृश्य जैसे 26 जनवरी पर एक झांकी निकाली जाती है राज्यों की नारी नारी और उनको उस झलक को देखा उसमें उस राज्य की उत्तम उत्तम वस्तुएं उसमें उपलब्ध होती हैं यहाँ कहते हैं मैं उस <clears throat> वहां माता के लोक की झांकी देखते रहे इतने में पूरे सौ वर्ष व्यतीत हो गए स्त्री वेश में परिणित श्री विष्णु ने समय अनुसार उन भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति आरंभ की औरत के रूप में ही औरत बने बने भगवान विष्णु ने माता की स्तुति शुरू कर दी भगवान विष्णु बोले हे प्रकृति देवी को नमस्कार हो अब देखो ये बात सुना ये प्रकृति कौन है या गीता जी भी सुनाऊंगा आपने जब पेटा भरेगा कबीर साहब कहा कौन से स्टेशन से बोला करते ये सारे शास्त्रों के ज्ञाता थे प्रकृति देवी के को नमस्कार हो और महर्षि दयानंद कहते हैं कि तीन चीज अनादि हैं प्रकृति भगवान और जीव उन प्रकृति का बिना विराकों किसे कहते हैं निर्गुण रूप को मानना सरगुण को नहीं मानते हुए और सरगुण बिना निर्गुण क्यों करो फूल बिना गंध आवे क्यों कर फूल के बिना सुगंध कहां से आवेगी सरगुण बिना निर्गुण होगा कैसे ऐसे महाराज जी बताते हैं सरगुण बिना निर्गुण किसका मां अब वृक्ष जो है आम का पौधा निर्गुण रूप में आम के बीज में है तो उस निर्गुण में क्या चाहता हूं तो सरगुण बने तो लाभ दे आम की उस बीज थे वो सरगुण आम का पौधा उगे और फिर वो आम्बों से लदपत होता हमने लाभ हो और निर्गुण आम ने के करेंगे भाई हम <clears throat> उस निर्गुण भगवान का हमें के लाभ हो रहा से हमें तो सरगुण परमात्मा सामने आकर काटे है काटे जब बात बढ़े और वो परमात्मा संत के माध्यम से आते हैं भगवान बोले प्रकृति देवी को नमस्कार हो <clears throat> जो कल्याण में स्वरूपणी है मनोरथ पूर्ण करने वाली है वृद्धि एवं सिद्ध स्वरूपा है उन भगवती को बारंबार नमस्कार हो तुम्हारे बनाए हुए जितने भी भुवन हैं तुम्हारे इस शक्ति संपन्न नख दर्पण में हमने झांकी मिली है <clears throat> क्या आपके नाखून में हमने सारा चीज देख लिया हम भी उसमें थे और आपने सारा ब्रह्मांड आपके नाखून नाम दिखाई दिया तुम महाविद्या स्वरूपणी हो तुम्हारा विग्रह कल्याण में हो तुम संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देती हो मैं बार बार तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाता हूँ विष्णु जी कह रहे हैं भगवान शंकर बोले हे देवी यदि महाभाग महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हैं हे शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चातुर हो माता पृथ्वी जल पवन आकाश अग्नि ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय बुद्धि मन अहंकार ये सभी तुम ही हो इस चराचर जगत की तुम ही बनाती को तुम ही बनाती हो माता ब्रह्मा विष्णु और महेश का रूप धारण करके तुम ही संसार की रचना करती हो ब्रह्मा जी कहते हैं अद्भुत तेजस्वी भगवान शंकर की ये बात स्तुति करने पर भागवती जगदम्बिका ने नरवाण मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया सुनकर महादेव जी को अपार हर्ष हुआ भगवती के चरणों में मस्तक झुकाकर वे वहीं बैठ गए वे भी महामाया जगदम्बिक की काके चरणों पर गिर पड़ा मैं भी ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भी भगवान भगवती जगदम्बिका यानी उस माया के चरणों में भगवती के चरणों में मस्तक झुकाकर मैं भी वहीं बैठ गया महादेव जी वहां बैठ के मैं भी महामा जगदम्बिका के चरणों पर गिर पड़ा और मैंने उनसे कहा माता तुम अखिल जगत की सृष्टि करने वाली रूपा स्वरूपा हो भवानी तुम एक हो अध्या शक्ति हो संपूर्ण स्वतंत्र वेदों ने तुम्हारा यो ज्ञान करा है माता <clears throat> तुम्हारे संपर्क से ही मैं ब्रह्मा सृष्टि करने में विष्णु पालन करने में और शंकर संहार करने में कुशल है अब क्या कहते हैं ब्रह्मा जी कि मैं तो सृष्टिकरण में और विष्णु पालन करण में और शिव जी मारण में आपकी शक्ति से ही हम कामयाब हैं <clears throat> यदि आज तुम्हारे से अलग हो जाए तो हम सबकी कुंठ, शक्ति कुंठित हो जावे अगर आप हमारे से दूर हो जाओगी अगर हमारे में शक्ति प्रवेश नहीं करोगी तो हम कुछ भी को ना अब ब्रह्मा जी एक अजब प्रश्न पूछा है ये और आप ध्यान रखना ये पांच दिन का सत्संग इसी के आधार पर हमारा चलेगा ब्रह्मा जी पूछा है वेद कहते हैं एकम एवा द्वितीय ब्रह्म यह तो क्या यह तो क्या वह आत्मा आत्म स्वरूपा तुम ही हो अथवा वह कोई और ही पुरुष है मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करो किसी महान पुण्य के प्रभाव से ही मुझे आपके तुम्हारे चरणों की सेवा सुलभ है तुम स्त्री हो या पुरुष हो माता से पूछा आपने लिखा है वेद में कि वो ब्रह्म एक ही ब्रह्म है या एकम एवं द्वितीय ब्रह्म इस उत्तर का प्रश्न का उत्तर मांगते हैं ब्रह्मा जी कि तुम स्त्री हो या पुरुष हो या ब्रह्म और तुम एक ही हो या नारे नारे हो यह ऐसे भी मुझे विशुद्ध रूप से कृपा करके बताओ जगदम्बिका के स्वरूप का वर्णन <clears throat> ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार मैंने भगवती जगदम्बिका से विनय पूर्वक पूछा वे मधुर वाणी में मुझसे कहने लगी देवी ने कहा अब माता बताती है कि हम एक हैं ये दोष हैं ब्रह्म एक है या दोष है <clears throat> देवी ने कहा मैं और ब्रह्म एक ही हैं अब ये विचार ध्यान सुनना माता कह रही है कि मैं और ब्रह्म एक ही है मुझ और इन ब्रह्म में कभी किंचित मात्र भी भेद नहीं है मेरे में और इस ब्रह्म में किंचित मात्र भी भेद नहीं है जो वे हैं वो वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वे हैं इससे सिद्ध होता कि दो तो है ही कोई वस्तु जब दो के भाग में भाव से बोला जा रहा है अगौर स्पष्ट करती है बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत होता हो रहा है ब्रह्मा जी इस सारे संसार में मैं ही व्यापक रूप से विराजमान हूँ संपूर्ण देवताओं में भिन्न भिन्न नामों से मैं विख्यात हूँ मैं शक्ति रूप धारण करके पराक्रम करती हूँ यानी प्रकृति बनकर शक्ति बनकर <clears throat> गौरी ब्राह्मी रुद्री ब्राही ये सभी मेरा ही नाम है ब्रह्मा जी मुझ शक्ति के प्राण कर जाने पर समस्त प्राणी निष्पराण है अगर मेरी शक्ति सब में से निकल जा तो तुम भी और ये सब जीव कुछ भी को ना ये मेरे से चल रहे हैं <clears throat> देवताओं अब मैं अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो अब क्या कहते हैं कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे स्मरण करोगे मैं सामने आ जाऊंगी देवताओं मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम सदा करते रहना अब ये बात विचार से सुनो बहन और भाइयों ये देवी पुराण आपने सुनाऊ मैं अब ये पॉइंट समझो इसमें गीता जी में भी प्रमाण दूंगा आपको वो सनातन परमात्मा कौन है देवी कहती है <clears throat> देवताओं मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम सदा करते रहना मेरा और ब्रह्म का उस निरंजन को तुम सदा याद रखिए तीनों देवताओं को कहती है ब्रह्मा विष्णु में इसको मेरा मैं तुम्हारी माँ और वो तुम्हारा पिता इन दोनों का तुम पूर्ण ध्यान से स्मरण करते रहना और हम दोनों के श्रमण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहेगा और तुम्हारे पर कोई कठिन कार्य उपस्थित हो जा तो तुम हमें सुमण करोगे तब मैं सामने खड़ी पाऊंगी योनिका नहीं तेरा पिता भी वो सनातन परमात्मा भी दिखेगा नहीं केवल मैं दिखूंगी और मैं तुम्हारा साथ दूंगी अब ये क्योंकि वो क्यों ना दिखेगा वो है आकार में पर उसने पर्ण कर रखा ब्रह्म ने निरंजन ने सनातन परमात्मा ने कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा और सारे काम तू करेगी और तेरे माँ का मैं आऊंगा और फिर तू सब में प्रवेश करेगी और फिर मैं भी निराकार रूप में जाऊंगा आकार में नहीं आऊंगा अब माई कहती है <clears throat> कि मैं फिर आगे तुम्हें सामने आऊंगी देवताओं मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान मेरा तथा तथा यानी दो हो गए मेरा और तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम सदा करते रहना अब यहां से कबीर साहब की वो चाबी खुला गएगी अब कबीर साहब का मैं सृष्टि रचना बताऊंगा आपको सृष्टि रचना ये कैसे हुई ये कबीर साहब की वाणी अनुसार और गरीब दास जी की वाणी अनुसार शास्त्र अनुसार आपको बताते हैं अब आपने देखा सुना कोई भी जानकारी हमें हुई है किसी भी इष्ट के बारे में किसी भी परमात्मा के बारे में हमें शास्त्रों के अनुकूल ही जानकारी है चाहे ब्रह्मा जी के बारे में चाहे विष्णु जी के बारे में चाहे शिव के बारे में उनके अंश अवतार राम और कृष्ण जी के बारे में शास्त्रों से ज्ञान हुआ शास्त्र सुनाए संतों ने और उनको बार बार सुनने से हमारे हृदय में यह सत्य हो गया कि यही करता यही दरता यही मालिक है और आप मिले नहीं उनसे कभी किसी से शास्त्रों के आधार पर ही हमारी बुद्धि को स्वीकार्य हुआ ज्ञान के आधार पर जैसा सुना कबीर साहब ने यह सारा वर्णन दिया है और कोई ये कहे कि ये शास्त्र हिंदुओं के हैं हिंदुओं के नहीं है ये ये प्राणी मात्र के हैं जब ये शास्त्र रचे गए उस समय कोई मजहब नहीं था ना कोई हिंदू था ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई ये सिर्फ उस समय जब शास्त्र रचे गए ये प्राणी मात्र के लिए रचे गए थे और यथार्थ इनमें जो <clears throat> रची गई है वो किसी मजहब को देखकर नहीं रची कोई ने सोचा मुसलमानों के आधार पर उनसे न्यारे बना दिए होंगे नहीं ये शास्त्र पुरातन है बहुत पहले के और ये मजहब तो अभी कोई 300 वर्ष पूर्व सिख धर्म और 13-1400 वर्ष पूर्व मुस्लिम धर्म और ज्यादा से ज्यादा हजार दो हजार वर्ष पूर्व ये ईसाई धर्म उससे पहले कुछ नहीं था तो इस प्रकार उस समय के रचित शास्त्र हैं ये शास्त्रों को गलत कहना वो नादानी उन नादान लोगों के काम होते हैं शास्त्र गलत नहीं होते लेकिन उनका जोड़ नहीं जुड़ा उनसे इसलिए उनको <clears throat> क्योंकि विष्णु पुराण को पढ़ के कोई शिव पुराण पढ़े तो कोना पढ़ा जा उसमें शिव जी को इतना महान बता रखा धरती तोल रखी है एक भक्त ने जैसे पूछा कि मैं तो शिव जी तो ऊपर कोना मानू चाहे कुछ भी कह लो <clears throat> क्यों नहीं माने कि पूर्ण परमात्मा थे ये जो चाहे सो कर सकते हैं मैं बोला देखो भाई ये तीन लोक के मालिक तो हैं और तीन लोक में ये जो चाहे सो कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं इनके कुछ कर्म क्षेत्र इनकी शक्तियां निहित कर रखी हैं ज्योत नरेंद्र भगवान ने जैसे एसपी के नियम पुलिस कमिश्नर की नियम उसकी शक्तियां वो कानून उसको दे रखे इन तो बाहर नहीं जागा तो जा सकते आप इनके अंतर्गत कोई काम है तो खूब कर सकता है इनसे बार नहीं कर, कर पाओगे इसी प्रकार एक बार कहते हैं भगवान शिव के सामने भस्मासुर जी ने तपस्या करी और 12 वर्ष तक सिर आसन पर एक दिन पार्वती जी बोली कि हे भगवान हे महादेव के देव आप सर्वज्ञ हो सर्वशक्तिमान हो और ये आपके चरणा कमा आपके द्वार के ऊपर खड़ा बारह वर्ष तय इसकी भी सुनो देव विष्णु भगवान शिव प्रसन्न होकर कहते हैं मांग में सुर की मांग है अब इतनी बुढ़ाई सुने पाछत आदमी पाटन न हो जा पार्वती ने गाय गुण तुम महादेव के देव हो तुम तो सर्वशक्ति मान हो